आसमानों और ज़मीन का मुजिद है और वो जब किसी काम का फैसला करता है तो यकीनन उसको वो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है